स्त्रियों ने रात्रि में जब सो रहा था तो उसके कंठ में रस्सी बांध दी पाषण कंठे निर्धार और उसको उस चारों तरफ से उसको बांध दिया और उसमें गले में रस्सी बांध करके उसको खींचने लगी मारने लगी तो करतन न मार जब जल्दी नहीं मर रहा हो तो वहां अंगीठी में अंगार अंगार जो दहक रहे थे एक विषाण ला करके वो दहकती हुई अंगार उसके मुंह पर डालती तन मुखे ही विचिक्ष उसके मुख में ला करके वो जलते फैरते हुए अंगार डाल दिए बस अब निजारा तो ना उससे फिर वो व्यापक होते निर्णय करता मर गए वो स्त्रियों ने वेश्याओं ने उसके शरीर को वहां गड्ढा खोद करके काट दिया ये तो बड़ी साहस तो होती है साहस का अस्त्रिया विश्व सुधामय बचो तो आसाम ऐसी जो स्त्रियां होती हैं उनके वचन बड़े नीचे होते हैं और परंतु उनका हृदय अक्षरा के समान तीक्ष्ण होता है वो उनका धन संपत्ति लेकर के वहां से चली गई और वो उसको प्रेत जीवन प्राप्त हुई भयंकर हुए नले भी शरणम कुत्र हा देवेत मुहूर्त और उसको शांति नहीं मिलती है बड़ा दुखी कियत काले गोकर्ण मृतम लोका जब उद्यत और गोकर्ण को जब ये पता चला तो जो भी था उसकी ऐसी ऐसी मृत्यु हो गई तो उन्होंने कहा भाई उसको और तो कोई पिंडदान देने वाला है नहीं तो गया में जब गए गोकर्ण तो जाकर के उनका श्राद्ध किया यशमी तीर्थ संयादी तत्व श्राद्धम प्रवर्तित जहां तीर्थ में जाते उसके लिए श्राद्ध करते थे इस प्रकार वो तीर्थ यात्रा करते हुए फिर एक बार अपने गांव में लौट करके आए उत्तम नगर में तो रात्रि के समय वो वहां सो रहे थे घर में तो वो धुंधकारी अपने वो तो प्रेत बना हुआ था भयंकर शरीर धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ तो कभी तो मेघ वृषा के रूप में भेड़ के रूप में कभी हाथी बन जाता कभी महेश बन जाता कभी देवता बन जाता कभी अग्नि के रूप में जलने लगता ये देख करके गोकर ने कहा अरे ये तो कोई प्रेत है दुर्गत है गोकर ने कहा तू कौन है रात्रि में इस दशा को कैसे प्राप्त हुआ जब उन्होंने ये कहा तो रोने लगा अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम छपा और स्पष्ट तो बोलने में समर्थ नहीं था वो संज्ञा मात्रम छपा तो अज्ञातार्थ या वाणी संज्ञा मात्रम तो तदुच्य जिसका अर्थ समझ में ना आवे वो ऐसी जो वाणी है उसको संज्ञा कहते बस तत्व जल जल गोकर्ण ने एक अपने हाथ में जल लेकर के उसके ऊपर छिड़का तो उससे उसके पाप कुछ नष्ट हुए तो बोलने लगा अरे अहम भ्राता तदीय से अरे मैं तो तेरा भाई हूं मेरा नाम धनुकारी है मैं अपने ही कर्मों के कारण मैं बड़ा पापी हूं उससे हमको ये दुर्गति प्राप्त हुई है वो करने का फिर मैंने तेलिए गया में जाकर के श्राद्ध किए हैं भाई तो गया में श्राद्ध करने से तो जीव मुक्त होता है जीव हाँ? तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई प्रातः काल जो हुआ तो वहां गांव के लोग पंडित लोग को पंडित से मिलने के लिए आने लगे तो उन्होंने सबके सामने ब्राह्मणों के सामने बात रखी कि भाई मैंने सब तीर्थों में इस कपड़े भाई के लिए श्राद्ध किया गया में श्राद्ध किया उससे उसकी मुक्ति नहीं हुई तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ तो ब्राह्मणों ने कहा अरे भाई तो फिर तो हम लोग क्या जाने कर्म के साक्षी तो भगवान सूर्य हैं सूर्य ही से ये बात पूछो तथा सर्वे सूर्य वाक्यम तन्मुक्त स्थापितम पदम तब गोपण तो भगवान के भक्त थे समर्थ थे भगवान सूर्य का स्तंभन किया सूर्य के वेद को रोक दिया और उन्होंने कहा तुभ्यम तो मनो जगत साक्षी है हे भगवान आप जगत के साक्षी हैं इस धंधकारी की मुक्ति का साधन आप बताइए भगवान सूर्य ने आकाशवाणी से स्पष्ट रूप से कहा श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन करो अरे श्रीमद भागवत का इसके लिए प्रवचन करो सात दिन तक इसकी मुक्ति हो जाएगी बस फिर क्या था गोकर्ण ने ऐसा निश्चय करके और सात दिन तक वो श्रीमद भागवत का श्रवण करा सप्ताह एक की उसको सुनने के लिए वहां के सब लोग अंधे बहुत वृद्ध अपने अपने पापों का अक्षय करने के लिए वहां बहुत लोग इकट्ठे हो गए और अब वो प्रेत जो था उसने वहां कोई स्थान नहीं था बैठने के लिए कैसे देखूं तो वहां एक बांस था सात सात उसमें ग्रंथियां थी कोई उसमें छोटा छिद्र था उसमें जो मूल छिद्र में रखकर उसने प्रवेश कर दिया सुनने के लिए क्योंकि वायु प्रधान शरीर होते हैं उनके तो एक स्थित नहीं रह सकता था तो वहां बैठ गए वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके और प्रथम स्कंध से लेकर के स्पष्ट आख्यान उन्होंने कथा कहना शुरू किया एक दिन की जब कथा हुई तो एक ग्रंथी का भेदन हुआ दूसरी में दूसरी दिन तीसरी का तीसरे दिन ऐसे सात दिन में जो है प्रेतकाम जहऊ दिव्य रूप धरा जाकर जाकर तुलसी दाम वो तो भगवान के पार्षदों का जैसे रूप होता है ऐसे रूप से वो प्रेत जो है सामने खड़ा हो गया और कहा क्या हम मुझे तो बंधा अरे भैया तैने मुझको मुक्त कर दिया तो सप्ताह हुई तथा धन्य करण कृष्ण लोक फलप्त होगा अस्माकं हृदय सद्या कथा तेजं करी आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम मन कर्म कैसा ही पाप हो गीला हो सूखा हो छोटा हो बड़ा हो तो गीला पाप कैसा होता है सूखा कैसा होता है तो गीला पाप ऐसा होता है आद्रम जो जानता हुआ भी जो पाप करता है वो पाप गीला होता है वो कठिन से छूटता है वो महाशय तुम जानते थे तो भी और अनजान का किया हुआ पाप शुष्क पाप होता है लघु और स्थूल छोटा पाप हो तो बड़ा पाप मान से मन से कर्म से किया श्रवणम विदहित पापम पावक समय दूर था अस्थिस्तंभम स्नायबद्धम मानसो निर्लेपितम चरमावरद्धम दुर्बद्धम पापम पुरुष अरे ऐसे शरीर से अस्थिर शरीर से जो कथा श्रवणादि नहीं करता है और वो क्या है बुदबुदाए बतो तो यीशु मस्काय बजंस वो तो बंगुले के समान मच्छरों के समान उसका जीवन है जायंती मरणाए व कथा श्रवण बच्चे प्रातः काल हम भोजन बनाते हैं दाल भात आप दोपहर को बनाओ शाम को रख रख दो तो उसमें बदबू आ जाती है और उसी अन्न खाने शरीर बनता है तो इसमें क्या नित्यता है इसके अनंतर उसने प्रयत्नकारे जड़ से शुष्क वंश से यत्र ग्रंथ विवेचना सूखे बांस की ग्रंथियों का भेदन हो गया तो चित्त की ग्रंथि का भेदन कर देगा ये कथा श्रवण तो इसमें क्या आश्चर्य वहां ऐसे वो चर्चा हो रही थी उसी समय भगवान के पार्षद उसको लेकर के आए विमान और वो उसको बिठा करके धुंधली के पुत्र को धुंधकारी को बिठा करके विमान में और वहां से वैकुंठ को ले चले गोकर्ण के भाई इस कथा सुनने वाले थे तो यहां बहुत थे और ये तुम अकेले इसी को क्यों ले चले इस हाँ, ये क्या पक्षपात है हम सबको ले चलो फिर वैकुंठ को अकेला ही कैसे जा रहा है आनतानुविमानान न तेषाम कथान कुतः ये इतने विमान एक ही क्यों लाए सबको ले चलो सभी को विमान लाओ उन्होंने कहा कि देखो भाई श्रवण तो सबने किया है द्वार फल का भेद क्यों हुआ है कि उसमें मननादिक और लोगों ने ऐसा नहीं किया जैसे इसने किया है इसने दिन सात दिन तक उपवास करके और एक एक अक्षर इसने मन लगा करके सुना है इसको अभिधन से हतम ज्ञानम प्रमादे में हतम श्रुतम जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है उस ज्ञान का तुमको क्या फल मिलेगा तो अदृढ़ से हतम ज्ञान जिस ज्ञान जिस ज्ञान में संदेह रहता है वो तो ज्ञान दृढ़ नहीं कहाता सफल नहीं होता वो ढंग से हतम ज्ञान और प्रमादी में हतम सुतम और सुना बैठे यहां हैं वहां का ध्यान कर रहे हैं घर को देख रहे हैं घर को देख रहे हैं हाँ, घर की याद आ रही है शरीर यहां बैठा है मन वहां घूम रहा है एक कानपुर का ब्राह्मण उनसे बोला मैं कश्मीर गया तो कश्मीर में आंख बंद करके करूं तो भगवान का ध्यान और नाती होते हुए चलते दिखाई दे तो यही मन जा रहे इनमें और बैठा मैं हजारों मील है बोले कश्मीर वहां से कानपुर से हाँ, और मन मन वहां भर नहीं दिखाई दे शरीर वहां पड़ा मन भर में पड़ा तो प्रमादे में हतम शुभ संदिग्धो ही हतु मंत्रो जिस मंत्र में संदेह हो वो मंत्र कहां तुम फल देगा एक व्यक्ति बहुत दिन तक पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं फिर कोई महात्मा आए तो बोला महाराज मैं पंचाक्षर मंत्र को जब करता हूं तो नमः शिवाय के नमो शिवाय महात्मा बोले तू कितने दिन से जब कर रहा है महाराज है गए बारह वर्ष तो बिल्कुल पहले ही पूछ लेता इसको हाँ, कि नम शिवाय के नमो शिवाय तो तू संदेह रहते हुए भी बारह वर्ष तेने बेकारी तो किए तो इसलिए जब मंत्र में संदेह है तो क्या फल देगा संदिग्धो हतो मंत्रो यज्ञ चित्तो हतो जगह श्रवण का फल कम मिलता है विश्वास में गुरु वाक्य सु स्वस्मिन दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निष्ठलामति एवं आदम कृतन चेतचा तदा वही श्रवणी फलम तब श्रवण का फल मिलता है पुनः श्रवांत सर्वेशा वैकुंठे पशुत ध्रुवम तो इसलिए अगर इस तरह से फिर तुम कथा वाचो इस तरह से लोग जो श्रवण करेंगे मन लगा करके तो हम बहुत से विमान लेकर के आ जाएंगे मैं क्या फिर महाराज गोकर्ण ने फिर दूसरी बार कथा की अब हाँ, तो लोगों को फल सामने दिखने को देखने को मिला देखा था ना तो सब ने कथा बड़े मन से बैठ करके सुनी जब आप दृष्टि बार कथा की समाप्ति हुई तो फिर वहां दास गोपन की कृपा से में स्थिता जीवा जितने भी प्राणी थे सबके लिए विमान आए और गोकर्ण उनको सबको लेकर के जैसे अयोध्यावासियों को लेकर के भगवान राम <clears throat> जैसे वैकुंठ को रहे थे ऐसे गोकर्ण सब अपने श्रोताओं को लेकर के वैकुंठ को ले गए बोलिए श्री कृष्ण अब जो है सप्ताह श्रवण की इसमें विधि बताते हैं कि जब भाई कोई तुम सप्ताह कराओ तो पहले तो सबको सूचित कर लो जिनको विचारों को सभी लोग तो सप्ताह करा ही नहीं सकते तो जिनमें को से उनको सुनने को नहीं मिलती वो भी आकर के सुन ले और जो वैष्णव लोग हैं कीर्तन करने वाले हैं उनको बुलाओ उनको पत्र लिख दो जो भक्त लोग हैं उनको जो इनमें श्रद्धा रखते हैं लिख दो भाई पत्र लिखने की विधि इसमें बता दी सतान समाज होगा देखो यहां संतों का समाज होगा भक्त लोगों का भक्त लोग यहाँ उपस्थित होंगे यहाँ सुंदर कथा होगी आप लोग अवश्य कथा रहे अगर पूरे सात दिन का आपको समय नहीं है तो एक दिन के लिए आइए दो दिन के लिए आइए चार दिन के लिए आइए तो इस तरह से तीर्थ वापी बने वापी तीर्थ में करो किसी जंगल में करो या घर में करो जहां लंबा चौड़ा ठीक स्थान हो वहाँ पता करनी चाहिए पहले से ही सब पूरा प्रबंध कर लेना चाहिए निशानी छूने का मंडप ठीक बनाना चाहिए भुजाएं लगानी चाहिए और जो है सप्तम लोका सकल्पनीय संस्करण कुछ ऊंचाई पर साथ लोगों की कल्पना करनी चाहिए वहां विरक्त ब्राह्मण सन्यासियों को बिठाना चाहिए उत्तरों को मुकर के वक्ता वैसे भवित वक्ता श्रोता भी पूर्व को मुकर के बैठे अथवा दोनों पूर्व की ओर मुकर के बैठे जो है वक्ता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रह दृष्टांत देने में जो कुशल हो धीर हो ऐसे व्यक्ति को वक्ता बनाना चाहिए और निष्प्रय हो अनेक धर्मों के चक्कर में हो स्त्रैण हो पाखंड हो उसको उससे कथा नहीं सुननी चाहिए वक्ता के पास में एक और सहायक अच्छा पंडित रखना चाहिए जो संशय का छेदन करने वाला प्रातः काल से कथा आरंभ करनी चाहिए संक्षेप से अपना संध्या वंदन करके और भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य करके पूजा आदि करनी चाहिए नमस्कार आदि करके और जो है फिर इस तरह से स्तुति करे संसार सागरे मग्नम दीनम तुम करुणा निधे भार मानोत्सर्भार पदारणवाद भगवत श्रीमद भागवत का पूजन करे विधि से नरियल अर्पण करे फल अर्पण करे श्रीमद भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे ऐसे उसकी प्रार्थना करेगा वो फिर वक्ता का भी पूजन करेगा चतुर्ब्रह्मज्ञ सर्वशास्त्र विशार्थ एक तत्कथा प्रकाश है जन्मात्मदा ज्ञानम विनाश है उस किसान ने फिर सात दिन के नियम करे और जो है कथा जो है प्रातःकाल से लेकर के बीच में मध्यान्ह विश्राम करे सम्यक जीव से जीवता आसूर्योदय आरंभ है सार्वत्र सार्वत्र प्रहरांतकम सत्याग्रह नवामोदस घंटे ती सार्वत्र देव तीन या नौ साढ़े दस घंटे में इतनी कथा थी है छह घंटे ही मुश्किल हो गई अच्छा कथा विराम कर्तव्य मध्यान्ह में कथा का विराम करे घटिका विराम उस समय कीर्तन भी कर लो करते नहीं तो मल मूत्र आतंक ही लब्धा बीच में लोशन का गुण जाना पड़े तरती न जाना पड़े इसलिए आहार खाना थोड़ा चाहिए और अभिशान खा करके रहो था एक बार भोजन करो अगर हो सके तो उपवास करके सात दिन तक सुनो उपोष सप्तरात्र में शक्तिस्थे छिण्यात्रा सात दिन तक कुछ मत खाओ सुनते रहो शक्ति हो तो अच्छा घी पी के रह जाओ फिर तो पाना लिया थोड़ा गुनगुना करा घी पी ले घी पी लिया और कुछ मत पिया गिरत तो पाना दूसरे डंडा के पैप पाना दूध पी के रह जाओ सूर्या सुखम फलाहारेण अच्छा फल खाना कम मुक्ति ना अच्छा फिर एक समय फलाहार भी एक संकल्प सुख साध्यम भवेत्तु कर्तव्यम श्रवणार्थ जो जिससे सुख साध्यम भवेत्तु कर्तव्यम तक सुनने में जैसी सुविधा हो वैसे करो भोजन ब्राह्मण में कथा श्रवण का कहते उस व्रत की अपेक्षा भोजन कर लेना अच्छा जो श्रवण करने में सुविधा होता तो। अगर तुम व्रत करो और पेट में अग्नि लग रही है नहीं रह सकते और कथा भी नहीं सुनी जाती तो बेकार है भोजन कर दो सीधी बात भोजनम तो मन मन ने कथा श्रवण कर का हो गर्भ प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि अगर विघ्न करता है कथा में तो उपवास ठीक नहीं है सात दिन तक सुनने वालों के नियम है विष्णु दीक्षा विहीन नाधिकारा कथा श्रोत को अधिकार नहीं है दीक्षित होना चाहिए सात दिन तक ब्रह्मचर्य से रहना पृथ्वी पर सोना पत्ता बल्याण से भोजनम पत्तल में खाओ जो पात्र होते हैं वो सब जूते होते हैं उनमें संस्कार रह जाते हैं अपवित्र होते हैं पत्तल तो एक बार खाई फेंक दी तो इसलिए सात दिन तक आपका भोजन पवित्र होना चाहिए तत्रावल्यां तो भोजनम पत्तल में खाओ और कथा की समाप्ति पर भोजन करो दुजलम दाल मत खाओ मधु शहद मत खाओ तेल तेल की चीज मत खाओ गरिष्ठान मत खाओ भाव दुष्टम जिसको देख करके भाव बदल जाता है जैसे तरबूज आता ना कटा हुआ लाल लाल तो उसको देख करके अरे कन कैसा तो जिसको देख करके बाहर में दोष दोष आने लगे उसको मत खा परिस्तम बासा मत खाना कथा काम क्रोध इनके ऊपर विजय करो दम द्वेश आदि को छोड़ दो किसी की निंदा मत करो रजकला अंत्यज मिलेच सत्य शौच दया मौन इनका पालन कर मनदारता तो होनी चाहिए हाँ। इन सबको दरिद्री हो क्षय रोगी हो भाग्यहीन हो अनपत्य हो मोक्ष की इच्छा चाहता हो उनको सबको इस कथा सुननी चाहिए अकिंचनीश अच्छा इसका उद्यापन करना जन्माष्टमी नृत्य वो कर्तव्य फलकांक्षी अकिंचन भक्तों के लिए कोई आग्रह नहीं विरक्त से श्रोता अगर सुनने वाला विरक्त है कोई तो दूसरे दिन गीता पाठ कर दो और कोई आवश्यकता नहीं और गृहस्थ है तो फिर कथा श्रवण करके फिर होम करो दस दसमी स्कंध से हवन किया जाता है पायसम मधु सर्पिश्चे खीर में शहद डालो तो घी डालो और उससे फिर हवन करो अथवा गायत्री मंत्र से हवन हो कैसे हम नहीं कर सकते तो उतना सामग्री किसी को दे दें दोषयो प्रशमार्थ संख्य पठे नाम सहस्र का सहस्र नाम का पाठ करो और कथा के अंत में बारह ब्राह्मणों को भोजन कराओ दद्या सुवर्णम धैनुम से सुवर्ण का दान करो गुरु का दान करो और शक्ति हो तो तीन पल सोने का सिंहासन बना के उस पर पुस्तक रख करके और दान करो फल श्रीमद भागवतम शुभम और संपादित महर्षि कहते हैं कि लो नारद जी हमने तुम्हारे लिए ऐसा सप्ताह श्रवण की विधि सुनाई है बोलो क्या सुनना चाहते फिर संपादिक महर्षियों ने विधि सुना करके और भागवत की कथा सुनाई श्रृणताम सर्वभूतान सत्तान यथात्मनाम यथावे तत्व देवम तुष्ट पुरुषोत्तम तो सब ने भगवान की स्तुति की उसके अंत में ज्ञान वैराग भक्तियों को पुष्टता प्राप्त हुई और फिर नारद जी कृतार्थ हो गए नारद बोले धन्योस तो उसी भगवत भी करना श्री महाराज मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की सरकारिक महर्षियों से ऐसे बोले नारद जी सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार नाराज जी कह रहे थे कि उसी समय भ्रमण करते हुए वहां सुखदेव जी आ गए कहीं तत्काल षोडश वार्षिक स्पदा व्यासात्म जो ज्ञान महाद्र चंदन व्यासनंदन सुखदेव जी वहां पधार गए जिसको भी व्यासनंदन कहते हैं आगे हाँ। नकली सही असली नकली जाति आगे तत्तायौ षोडश वार्षिक स्तरा व्यासात्मजो ज्ञान महाद्र चंद्रमा ज्ञान रूपी समुद्र के लिए चंद्रमा के समान है जैसे इस चंद्रमा को देख करके तो खानी खाली समुद्र उमड़ता है और सुखचंद्र को देख करके जो ज्ञान का समुद्र उमड़ता था ज्ञान महाभ्य चंद्रमा कथा रसानी होगा कथा के अंत में आए थे भगवान सुखदेव जी धीरे धीरे भागवत का पाठ करते हुए उनको देख करके सब लोग उठ करके खड़े हो गए सुखदेव जी बोले निगम कल्प तरो गलतम फलम अरे ये तो वेद रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल है इसको निरंतर पान करते रहना चाहिए धर्म पूज्यत गईतगोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम तापत्व श्रीमद्भागवते महामनुकृते किंबापरेश्वरा सद्यो हृद्यवृद्धते कृति शुश्रूषुभिस्तक्षणा सुखदेवी ने कहा श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम संपूर्ण पुराणों में श्रेष्ठ है वैष्णव का धन है पारमहंस संगता है ये स्वर्ग में और नर्क लोक में कैलाश में वैकुंठ में तय तो नहीं सब इसलिए भाग्य वालों इसे खूब पान करो इस प्रकार सुखदेव महाराज कह रहे थे उसी समय भगवान स्वयं प्रकट हो गए बीच में प्रहलाद और उद्धव आरोपों को लेकर के नाराज जी ने सबका पूजन किया और जब भगवान बैठ गए तो उनके सामने सब कीर्तन करने लगे भगो भगवान या कमला कमलासन बस शंकर भगवान भी आ गए पार्वती के शहर ब्रह्मा जी आ गए कीर्तन देखने के लिए वो कीर्तन जब हो रहा था तब तो प्रहलाद स्तारधारी प्रहलाद प्रहलाद जी तो करताल बजा रहे थे और उद्धव जी जो है झांझ बजा रहे थे नारद जी बीणा बजा रहे थे अर्जुन राग अलाप रहे थे इंद्र मृदंग बजा रहे थे संपादक महर्षि जय जयकार कर रहे थे और सुखदेव जी जो हैं अभिनय आगे आगे अभिनय करते चले जाते थे ऐसे जब कीर्तन था वहां भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के आकर के नृत्य करने लगे भगवान ने भगवान प्रसन्न हुए और कहा अरे हमसे बोलो हम प्रसन्न हैं क्या चाहते महाराज जी बोले महाराज जहां ऐसी कथा वार्ता आपका हो कीर्तन ऐसे आप सदामा प्रकट हुआ करना और क्या हम यही मानते शौनक जी ने कहा महाराज ये तो बताओ कि सुखदेव जी ने इस कथा को कब कहा था गोकर्ण को सुकेन कदा राज्य गोकर्ण ने कदा